ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् वृत्ति हो गई आत्मा ने सोचा मेरे इसमें प्रवेश किए बिना ये पिंड कैसे चलेगा ये का व्यवहार व्यापार कैसे होगा मेरे प्रवेश हुए बिना इनके व्यापार होने सकते क्योंकि जड़ हैं चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ में प्रवृत्ति हो नहीं सकती है एक कारण यह है मुझे प्रवेश करने का दूसरा मैं यहां यदि प्रवेश नहीं करूंगा इस पिंड में तो फिर आत्मा को कोई जानेगा नहीं आत्मा को जानने के एकमात्र तरीका है इन इंद्रिया आदि के व्यापार को देख करके कोई न कोई चेतन वहां है ये चेतन के आश्रित होकर के काम करता है अनुमान से सिद्ध होना है तो आत्मा का ज्ञान भी इसी प्रकार होना है कि बाघ आदि का व्यापार जिसके सामने में हो रहा है वो आत्मा है ऐसा परिचय होना आत्मा जो कारण है एक तो इनकी व्यापार की सिद्धि होगी गरीब प्रवेश करने पर जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी में क्रिया होगी नहीं तो गाड़ी में क्रिया हो नहीं सकती वैसे इंद्रिया सब जड़ है तो आत्मा के सान्निध्य के बिना एक इंद्र में क्रिया होनी संभव नहीं सान्निध्य माने आत्मा का यहाँ प्रेरकता केवल सान्निध्य मात्र से है आत्मा कोई वाणी का व्यापार भी नहीं करता शरीर का व्यापार भी नहीं करता इनको चलाने के लिए चुंबक जैसा जैसे चुंबक के सान्निध्य में लोहे में प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार आत्मा के सामने में इनकी व्यापार होना है एक तो कारण यह है इसलिए प्रवेश करना है दूसरा यहां प्रवेश यदि नहीं करूंगा तो इन्हीं के व्यापार के द्वारा मेरी सिद्धि होनी है आत्मा की सिद्धि इंद्रियों के व्यापार देख करके यहां ये जो जिसके सानिध्य में व्यापार हो रहा है वो आत्मा ये ज्ञान होना है तो अपने परिचय भी इसी के माध्यम से होना ये दो ही कारण है इसलिए आत्मा का प्रवेश होना है इसकी टीका चल रही थी एवं बाल व्यवहारादि कार्य सिद्ध्यर्थम मया प्रविष्ट मित्र अब तक ये सिद्ध हुआ वाणी आदि का व्यवहार तत्त इंद्रियों का तत्त जो व्यापार है देखना सुनना बोलना आदि जो जो इंद्रियों का व्यापार है उनकी सिद्धि के लिए मेरे द्वारा यहाँ प्रवेश होना चाहिए आत्मा ने ऐसा सोचा एक प्रवेश होने का तात्पर्य और आत्मस्वरूप बोधार्थम का मैं प्रवेश तत्व ये बोलना है अपने स्वरूप को ज्ञान कराना है लोगों को इसके लिए भी यहां प्रवेश करना यहाँ प्रवेश करने पर किससे ज्ञान होगा लोगों को इंद्रियों में जो व्यापार हो रहा है तो उस जिसके सामने में व्यापार होता है वो आत्मा है और आत्मा का स्वरूप ऐसा है ऐसा ज्ञान भी होना है इसके लिए भी यहां प्रवेश करना आवश्यक समझा आत्मा ने कहा परमात्मा मैं आप प्रवेश भक्तों यही बोलने के लिए स ईक्षता यदि बाचा अभ्यागम इत्यादि ये मंत्र आया मंत्र भाग था स ईक्षता यदि बाचा अभ्यागृतम प्राण अल्पाणिकम यदि चक्षुषा दृष्टम यदि स्त्रोत्रेण श्रोतम तब उस स्थिति में को हम मैं क्या रहूंगा फिर माने चेतन के बिना भी यदि जड़ में क्रिया हो जाती है तो चेतन में क्या प्रयोजन रहेगा कोई प्रयोजन नहीं रहेगा ये सोचा ठीक है तो सईक्षता यदि वाचा अध्यायकम इत्यादि अथ कोहम यदि अंतम अथ कोहम तक यदि वाचा अव्यावृतम से लेकर के मंत्र में अथ कोहम मंत्र का अंतिम भाग है अंतिम है अतपोहम इति अंतम वाक्यम तत् प्रवेश प्रयोजन कथनार्थत्व आत्मा का प्रवेश का प्रयोजन कथन के लिए है आत्मा का प्रयोजन या प्रवेश का प्रयोजन यह है कि आत्मा का स्वरूप का पहचान होगा लोगों का यहां स्थिति में कथम यदि कथम इदम इति वाक्य तुल्यत्वाद ये वाक्य जो अंतिम वाक्य तीन बार यहां पर स इक्षत स इक्षत तीन बार आया इसमें तो सबसे पहले स इच्छा का कथम रिदम से उस आत्मा से जो कैसे हो सकता है मेरे बिना इनमें व्यापार कैसे होगा पहला ये कथम था कथम नो इदम यदि वाक्य तुल्य अंतिम वाक्य और पूर्व वाक्य दोनों समान हो जाते हैं बीच वाले को छोड़ करके सईक्षता कतरण प्रबद्ध ये वाक्य को छोड़ दे पहले वाला वाक्य होगा सईक्षता कथम निगम से आत्मा मेरे बिना कैसे होगा इनके व्यापार ये जो वाक्य का जो अर्थ था अंतिम वाक्य का भी वही अर्थ आ रहा है सईक्षता यदि बाचा अव्याहृत मादि का वही अर्थ है दोनों का अर्थ एक ही होने से प्रथम ने इदम इद वाक्य तुल्य माने पूर्व वाक्य और अंतिम वाक्य दोनों एक समान हो रहे हैं जैसे सईक्षता तटरण वाक्य न विभेदम अपनी तो बीच में एक सईक्षता कतरेण प्रपद्ययी इसका व्यवधान होने पर भी पूर्व के साथ में इसका अन्वय सईक्षता कथम नुमकृत आपका संबंध होगा इस अंतिम वाले के साथ सईक्षता यदि वाचा अभ्यास इसका पूर्व के साथ अन्वय होगा बीच में व्यवधान है वो व्यवधान होने पर भी पूर्व वाक्य का इस वाक्य का दोनों का समान अर्थ आ रहा है बीच वाले तो कतरण प्रवृत्ति अलग है वो सईक्षत कतरण प्रवृत्ति वो अलग है पहले वाला कथम इदम से पदृते इसका और कथम इक्षता सईक्षता यदि वाचा अभ्यागृतम यदि प्राण अभिपानितम इत्यादि वाक्य समान है समान होने से ही कहा समान होने से एक स एक सदा कतरण यदि वाक्य न व्यवहितम अभी व्यवहार है बीच में होने पर भी यही वाक्य से पूर्व वाक्य को यहां ला करके दोनों का एक ही अर्थ करके अर्थ करते हैं कहा व्याचे उसको खींच करके लाते हैं स एक सदा कथम न बदलते उस वाक्य को यहां ला करके स इक्षता यदि वाचा अभ्यागृतम के साथ में जोड़ करके अर्थ करते हैं व्याख्या करते हैं यदि नाम है में कहा यदि नाम यदि ऐसा हो यह तब संघत कार्य से परार्थत्व देखो संघात जो होता है दूसरे के लिए होता है संघात में जो भी व्यापार होगा दूसरे के लिए होता है ये समुदाय है शरीर और इंद्रियों का पिजरा ये समुदाय है अनेक मिल करके होके चल रहा है तो इसका व्यापार किसी अन्य के लिए होना चाहिए जो संघात होता है समुदाय होता है उसका जो व्यापार होता है अन्य के लिए होता है ये देखना है यदि नाम एतद संघात कार्य से परार्थ तुम संघात का कार्य को परार्थ माना है दूसरे के लिए कहा है कार्य में व्यापार संघात का जो व्यापार होगा वो अन्य के लिए यदि ऐसा है तो परमार्थम माम चेतनम अंतरेणा कथम भवे यही होगा परमार्थी जो मैं चेतन हूं मेरे बिना कैसे हो सकता है मेरे, मेरे लिए ही तो होगा व्यापार इनका देखना सुनना आदि व्यापार जो होगा मेरे लिए होगा मेरे बिना कैसे होगा पौर कार्य में तत्स्वामी जैसे पूर्ववासियों का जो कार्य होता है व्यापार होता है पूर्ववासियों का राजा के बिना नहीं होता है राजा के लिए होता है जो भी बलिस्तुति स्तुति आदि भेंट देते हैं किसके लिए राजा के लिए राजा नहीं तो उनकी बलिस्तुति स्तुति आदि निरर्थक हो जाएगा उपहार चढ़ाना है स्तुति करना है अगर राजा नहीं है तो अनर्थक हो जाएगा निरर्थक हो जाएगा वैसे इनका भी व्यापार निरर्थक होगा क्यों तो संघात है समुदाय का जो कार्य होता है किसी अन्य के लिए होता है इसलिए अथ हम किम स्वरूप और कश्य वास्तवामी उस स्थिति में मैं फिर क्या स्वरूप वाला रहूंगा मैं किसके मालिक होऊंगा इनके व्यापार यदि मेरे बिना होता हो तो ऐसा कहा ठीक है संगत से बाघादि लक्षण से कार्य से परार्थत्व संघात जो है बाघादि इंद्रिया जो समुदाय मिलकर के काम करते हैं शरीर इंद्रिय समुदाय संगत से जो संघात है बाघादि लक्षण से बाघादि स्वरूप इंद्रिया है कार्य से इनका जो व्यापार है कार्य में व्यापार परार्थत्व दूसरे के लिए होता है संघात का जो व्यापार होता है अन्य के लिए होता है परोपकार रूप अभिव्याहार आदि कार्यत्व इनमें परोपकार की भावना से काम करना है दूसरे के लिए काम करना है क्या है बोलना आदि काम है तो बोलने का फल आत्मा को मिलना है परोपकार रूपा रूप अविद्याहरणाधिकारित्व यही है इनका परार्थत्व परोपकार करना दूसरे के लिए काम करना है परमार्थिनम उपकारवादनम अंतरण न हो जो उपकार का पात्र नहीं होगा तो किसको उपकार करेंगे परम अर्थ चाहने वाला जो होगा उस उनके व्यापार चाहने वाला उस नहीं होगा यदि तो किसके लिए काम करेंगे क्या होगा कैसे इनका व्यापार सार्थक होगा परमार्थिनम उपकार भाजनम परमार्थ जो उपकार का पात्र भाजन पात्र के बिना कैसे हो सकेगा इनका व्यापार संघात का व्यापार अन्य के लिए होना है तो अन्य कोई न कोई चाहिए तो कौन तो मेरे प्रवेश होना जरूरी है वहां ये कहना है अनेना यदि वाचा एवं केवल है अविद्या हृतम भवे मेरे बिना ही वाणी से केवल शब्द उच्चारण होने लग जाए मेरे सामने के बिना ही चेतन के सामने के बिना ही जड़ में कार्य होने लग जाए आने इस वाक्य के द्वारा तो हुआ यदि वाचा एवं केवल आया अव्याहकम यदि केवल वाणी के द्वारा ही बोलने काम हो जाए अव्याह भवे यदि एवकार अत्याहार में वाक्य विरोधिता एवकार लगाकर यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा फिर मैं कौन रहूंगा क्या रहूंगा एवं उत्तर आगे भी ऐसे ही यदि प्राण न अभिप्राण कम इत्यादि ये ऐसे करना कहा यदि प्राणे नहीं वह अभिप्राणितम अभेद मेरे बिना ही प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया होने लग जाए ग्रहण क्रिया होने लग जाए इत्यादि अभिप्राणितम का अर्थ करना आग्रह या इंद्रिय के प्रस्ताव में प्राण शब्द शब्द मतलब ग्रहण इंद्रिय लेना आग्रह शब्द अपानितम प्राण अपानितम का अर्थ क्या होगा अंतर्गतम भक्षितम अपान अभिप्राणितम या अपानितम का अर्थ होगा भक्षित खाया हुआ मेरे बिना ही यदि कोई खा सकता हो इत्यादि अर्थ होगा उत्तम एवं वाक्यार्थम स्पष्टीकरण इसी को कहना चाहे स्पष्टीकरण करते हैं यदि हम भाष्य ने कहा यदि हम कार्यकारण संघातम हम प्रविश्य बाघादि अभिप्रियादि फलम उपलब्ध यदि मैं कार्यकरण संघात में प्रवेश करके इस शरीर में प्रवेश करके कि बाघ आदि के द्वारा बोलना आदि का फल यदि मैं प्राप्त न करूं यदि मैं ऐसा न करूं तो इनका जो व्यापार निरर्थक हो जाएगा क्यों संघात का कार्य अन्य के लिए होना है अन्य कोई है ही नहीं वहां वो संघात कोटि में है अन्य दूसरा रहा नहीं इनका व्यापार व्यर्थ हो जाएगा निरर्थक होगा ही कहते यदि हम कार्यकारण संघातम अनुप्रविश्य इस कार्यकार का जो समुदाय है शरीर इंद्रियों का पुंज है ये इसमें प्रवेश करके बाघादि अभिव्याहृतादि फलम नोपलभेय बाघादि के द्वारा उच्चारित जो शब्दादि हैं व्यापार उनके फल को यदि मैं प्राप्त न करूं तो क्या होगा राजा इव पुरम आविष्य अधिकृत पुरुष कृताकृत वेक्षाम जैसे राजा जैसे पूर्व जा करके उस नगर में घुस करके जो अधिकारी के द्वारा पुण्य पाप जो किया होगा उसके यदि इच्छा नहीं करेगा राजा तो उनका कार्य व्यर्थ हो जाएगा एक कहा ये दृष्टांत दिया राजा युवपुरम आविष्य जैसे राजा पूर्व में प्रवेश करके अधिकृत पुरुष जो अधिकारी पुरुष है वहां नियुक्त किया गया पुरुष उनका कृता कृताकृत अवेक्षण कृत होता है पुण्यकर्म अकृत होता है पाप कर्म पुण्य पाप का यदि निरीक्षण नहीं करता हो राजा तो उस स्थिति में उनका व्यापार व्यर्थ हो जाएगा ठीक इसी प्रकार यहां न कश्चिन माम अयम सम एवं रूप स्थिति अधिगछित विचार उस स्थिति में फिर मैं यदि इस शरीर में प्रवेश करके इन बाघादी व्यापार को फल का नहीं लूंगा तो क्या होगा उस स्थिति में मुझे कोई आत्मा सत है विद्यमान है ऐसा नहीं मानेंगे कोई और एवं रूप सा ऐसा स्वरूप है उसका ज्ञान स्वरूप है ऐसा भी कोई नहीं मानेंगे तो विचार नहीं करेंगे एक ठीक है मुझे <clears throat> अयम सनिधि अयम आत्मा अस्थि सम अस्थि यह आत्मा है क्यों बाघादि का व्यापार का फल लेने वाला आत्मा है क्योंकि संघात का कार्य किसी अन्य के लिए होता है तो अन्य में आत्मा है नहीं तो किसके लिए ये काम करेंगे बाघादि इस तरह से आत्मा का ज्ञान होगा अयम आत्मा अस्थि सच एवं रूपस्य नादिगछेद और वो इस प्रकार का आत्मा है इस स्वरूप वाला है ऐसा कोई जान नहीं पाएगा यदि मैं यहां प्रवेश नहीं करूं तो क्योंकि बाघादि के व्यापार के द्वारा ही मेरा पहचान होना है फल फल लेने वाला फल होता के रूप से साक्षित्व ने भाव होगा इस रूप से पहचान होना है यदि मैं प्रवेश नहीं करूं तो कोई जानेगा नहीं आत्मा को आत्मा को नहीं जानेगा तो आत्मज्ञान से मुक्ति बताने वाले जो अध्यात्म शास्त्र अप्रामाणिक हो जाएंगे ये परिस्थिति आ गई अप्रवेश यदि मैं प्रवेश नहीं करूं इस शरीर में उस स्थिति में स्वस्थ अधिगमो नश्या मेरा ज्ञान भी नहीं होगा किसी को तो मैंने आत्मा आत्मा का ज्ञान किसी को होगा ही नहीं इसी बाघादि व्यापार के फल भोक्ता के रूप से आत्मा का ज्ञान होना है साक्षी भाव होना है तो अप्रवेश हेतु हो न यदि प्रवेश नहीं करूंगा तो मेरा ज्ञान नहीं होगा अधिगम मान ज्ञान ज्ञान नहीं होगा इति गुप्त ऐसा कथन करके आत्मा ने प्रवेश हेतु सो अस्थि प्रवेश फल यदि प्रवेश करने पर तो ज्ञान हो जाएगा यही प्रवेश का फल होता है मेरा ज्ञान होगा सभी को ज्ञान हो जाएगा ये कहा विपर्य हेतु यही कहा विपरीय तो यदि विपरीत हो प्रवेश कर जाओ इसमें ऐसी स्थिति में क्या होगा योयम बाघादि अव्यवहित आदि इदम इति वेद योयम वेद बाघादि इदम बाघादि अभिहृतादि यो अयम वेद जो ऐसा जानता हो वाणी बोल रही है काम सुन रहा है आंख देख रहा है ऐसा जैसे इनके व्यापार को जो जानता हो बाघादि के व्यापार को जो जानता हो योयम वेद जो जानता है सन वो सत है वो है बागानी व्यापार को जानने वाला है वाणी क्या बोल रही है कान क्या सुन रहा है ऐसे ज्ञाता है सम वेदन रूप और ज्ञान स्वरूप है ऐसा भी समझेगा एक तो सत है वो विद्यमान है बागादी व्यक्ति व्यापार जानने वाला वाणी क्या बोल रही है किसी ने किसी को पता हो रहा है काम क्या सुन रहा है तब तक इंद्रियों का व्यापार का ज्ञाता रूप से जानेगा प्रवेश करूंगा तो प्रवेश हेतु स्वस्थ मैंने विपरी हेतु इत्यादि का योयम बाघादि अव्याहति इदम वेद इदम बाघादि व्याहितादि वेद इस बाघादि व्यवहार आदि को जो जानता है सत्सत उपसत है विद्यमान है और वेदन रूपश्च और ज्ञान स्वरूप ही है वो इति और औपचान इस तरह से मैं ज्ञान का विषय हो जाऊंगा सबके द्वारा जान योग्य हो जाऊंगा ये कहा ठीक है प्रविष्ट आदि उपलम्ब हेतु इत्यर्थ विपर्य हेतु का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में विपर्य हेतु कहा था उसका अर्थ कर दिया प्रविष्ट आदि उपलब्ध हेतु इस शरीर में प्रवेश करके व्याहृतादि का फल वाणी आदि के व्यापार को प्राप्त करने पर तो सभी लोग मुझे जानेंगे आत्मा को जान पाएंगे क्यों ये जो इंद्रियों के व्यापार को जानता है वही आत्मा है और वो सत्य है और वो ज्ञान स्वरूप है ऐसा समझ वेद रूप संस्कार इति अधिकांश अंशाम मैं वेदन स्वरूप से भी जानूंगा ज्ञान स्वरूप से जानूंगा आत्मा आत्मा का ज्ञान होगा ज्ञान स्वरूप ज्ञान ज्ञान रूप से सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म उसका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है इस रूप से भी जानेंगे वेदन रूप सन रूप संस इति वेदन स्वरूप होता हुआ भी जानूंगा ये हमारा वेदानुरूपत्व उपाधि आत्मा ज्ञान स्वरूप है इसको सिद्ध करते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है ऐसा है वही सिद्ध करते हैं यो यम इत्यादि का यो यम बाघादि अभिराती इत्यादि का बताया यो यम बाघादि अभिप्रियाति वेद जो व्यक्ति जो अयम जो यह बाघादि के व्यापार को जानता है वाणी क्या बोल रही है कान क्या सुन रहा है जानता है जो जानता है योयम बाघादि के वेद जो बाघादि के शब्दादि उच्चारण को जो जानता है सब वेतन रूप यदि वो ज्ञान स्वरूप है ऐसा अन्वय कर देना कहा वेदन रूप तो बड़ा ही होगा योयम बाघादि अभियादि वेद सब वेदन रूपित अधिकापित श्याम मैं वेदन रूप होकर के ज्ञान लोगों के विषय बन जाऊंगा ज्ञान स्वरूप है प्रश्न होगा न जब तो वेदित कथम वेदन रूप था वो तो व्यक्ता होगा ना बाघादि के व्यापार को जानने वाला होगा वो ज्ञान स्वरूप वैसे होगा तो वेदिता होगा वो तो ज्ञाता होगा ज्ञान स्वरूप वैसे होगा ये शंका न जब तो वेदितु कथम वेद रूपतम ये शंका है वो तो वेद वेदिता है वो तो वो तो ज्ञाता है वो ज्ञान स्वरूप कैसे होगा बाघादी के व्यापार को जान रहा है तो ज्ञाता है वो ज्ञान स्वरूप कैसे होगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कहते शंका वेदितु कथम वेदनोत्तम उत्तम इतने हूं तो वेदिता है आत्मा वो तो कैसे ज्ञान स्वरूप होगा वेदन स्वरूप कैसे होगा ऐसा नहीं कहना चाहिए क्यों वेदितुर अवेदन रूपत्व जो ज्ञाता है आत्मा बाघादि व्यापार में जाता है वो तो अज्ञान स्वरूप यदि हो अवेदन स्वरूपत्व यदि अज्ञान स्वरूप हो आत्मा ज्ञान स्वरूप न हो अवेदन स्वरूप मानने पर तस्य वेदनांतर कर्मत्व बातचीत दूसरे ज्ञान का विषय मानना पड़ेगा उसको कर्म हमारा विषय उसको जानने के लिए दूसरा ज्ञान की आवश्यकता होगी और वेदितूर अवेदन रूपत्व वेदता जो आत्मा है वो अगर अवेदन स्वरूप है अज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप नहीं है ऐसी स्थिति में तस्य आत्मा आत्मना वेदनांतर कर्म तो अन्य ज्ञान का विषय कहना पड़ेगा स्थिति आएगी तस्मिन वेदने वेदिता एवं करता थे नहीं नहीं उस आत्मा के जानने में माने वेदिता आत्मा ही है वही जानता है दूसरे ज्ञान का विषय बनाने की जरूरत नहीं है वह आत्मा ही जानता है उसको ऐसा मानने पर माने विषय को भी जानेगा अपने को भी जानेगा आत्मा को जानने में भी आत्मा ही जानेगा और अन्य को तो जानता है बाघारी व्यापार को जानता ही है व्यक्ता बन गया किंतु तो आत्मा के विषय में स्वयं व्यक्ता बनेगा यदि कहे तस्मिन वेदने वेदिता एवं करता चेत यदि आत्मा के ज्ञान जानने में तो वेदिता ही करता होगा जो बाघ आदि का वेदिता है वही कर्ता बनेगा अपने को भी जानेगा अन्य को भी जानेगा तो अन्य ज्ञान का विषय बनाने की आवश्यकता नहीं ये भी कहे तो क्या होगा अनवस्था तो अनवस्था क्या होगा कि वेदितुर वेदनोत्तम सिद्धति कहा तो अनवस्था से आदि की वेदितुर वेदन से हाँ तो क्या होगा अच्छा वेदा करता चेत एकस्में ही कर्तृत्व कर्मत्व से विरुद्ध प्रसिद्ध बाघादि व्यापार को जानने से वेदितृत्व हाँ। और क्या होगा ज्ञान स्वरूप होने से वेदात्व कर्मत्व और कर्तृत्व दोनों आया अपने को भी जानता है जानना भी जानने वाला भी वही कर्म भी वही ये भी है कर्म तो दोष आ जाएगा मैंने दूसरे को जानता है अपने को भी जानता है बोलने के लिए अपने को स्वयं जानता हो तो जानने वाला भी वही जानने का विषय भी वही दोष आ जाएगा ये सिद्धांत कह रहे तो एक अस्में बेजरी कर्तृत्व कर्मत्व से विरुद्धम प्रसिद्ध अन्यो भी विचार करता है तो नहीं नहीं इस आत्मा को जानने वाला अन्य होगा अन्य आत्मा जानेगा ऐसा मानेंगे तो फिर कर्तृत्व तो नहीं होगा कर्मत्व तो ही बन जाएगा तो कहेंगे अन्यो वेदिता करता चेत इस आत्मा को जानने वाला वेदिता अन्य करता है यदि मानेंगे तो तस्या भी अन्यो वेदिता फिर उसके लिए कौन उसके लिए कौन अनवस्था हो जाएगी अनवस्था से अतिथि वेदितुर वेदन उत्तम सिद्धि इससे क्या होगा वेदिता जो सबको जानने वाला का क्या होगा ज्ञान स्वरूप ही सिद्ध होगा अतएव श्रुतंतर इसलिए श्रुतंतर अन्य श्रुति में कहा है वृद्धारण ने कहा यो वेद इदम जिग्रहण भी आत्मा जो जानता हो ऐसा जानता हो कि मैं शुभ करके जानता हो वो आत्मा है उसका अर्थ किया है <clears throat> घ्रातृ घृय घ्राण वेदनश्य वहां जब यो वेद जिघ्राणी में क्या होगा ग्राहता सुंघने वाला व्यक्ति अच्छा ग्रेय पदार्थ विषय गंध और घ्राण इंद्रिय हाँ, ये सब और वेदन क्रिया सब आत्मा ही कहा है यो वेद इदम जिग्राणी की सा आत्मा इत्यादि का समय घ्राता ग्रेय घ्राण और वेदन क्रिया सब के सब आत्मा को ही बताया है सूंघने वाला और हाँ। सुंगा जाने वाला विषय और सूंघने वाली इंद्रिय और ज्ञान सबको आत्मा बताया तस्य वेदन से प्रमाण रूप अस्तित्व प्रमाण है आत्मा ज्ञान स्वरूप ही सिद्ध कर दिया अब आत्मा के होने में प्रमाण देते हैं आत्मा का अस्तित्व में आत्मा है कि नहीं है आत्मा है इसके लिए प्रमाण देते हैं क्या प्रमाण है यदर्थम करके कहा यदर्थम इदम संगता नाम बाघादिनम अभिव्याति आत्मा जिसके लिए ये जो संघात जो बाघ आदि इंद्रियों का बोलना आदि व्यापार है जिसके लिए व्यापार है वही तो आत्मा है ये व्यापार जिसके लिए हो रहा है जैसे राजा कौन है जिसके लिए उपहार चढ़ा जा रहा है वही राजा है पूर्ववासी के द्वारा स्तुति की जाती है जिसके वो राजा होता है ऐसा ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार यहां भी यदार्थम जिसके लिए इदम संगता नाम आदि नाम अभ्यास आदि ये जो संघात है बाघादी इंद्रिया इनके जो व्यापार है अपना अपना व्यापार जिसके लिए है वो आत्मा है ऐसा ज्ञान होता है जिसके लिए व्यापार है क्योंकि संघात का कार्य अन्य के लिए होता है ये समुदाय है सारा तो इसका कार्य जिसके लिए है व्यापार वही आत्मा है ऐसा ज्ञान होगा ये बताया ठीक टीका मैं कहते हैं संगताराम बाघादीनाम अभिव्याहितादि यदर्थम संघात जो बाघादि इंद्रिया है इनका जो या करना शब्द बोलना आदि जो व्यापार है यदार्थम जिसके लिए होगा सो अन्य वो अन्य व्यक्ति होगा संघात में जो कार्य हो रहा है उसका फल लेने वाला अन्य होगा जिसके लिए ये हो रहा कार्य सो अन्य बाघादिवीर असंगत बाघादि के साथ में अतिरिक्त है संघात से अतिरिक्त है असंगत असंगत होता हुआ था इति अत असंगत है ऐसा करके जानना चाहिए उस आत्मा को संघात से अतिरिक्त है बाघादि जिसके लिए बाघादि का व्यापार चलता है वो संघात कोटि से अतिरिक्त है ऐसा जानना चाहिए आप मानना ऐसा होगा ये बताया संगतानाम असंगत पदार्थत्व दृष्टान्त महा संघात जो होता है ना असंगत जो व्यक्ति के लिए होता है संघात का जो व्यापार है संघात से अतिरिक्त जो होगा वही परार्थ होगा दूसरे के लिए होता देखा कहाँ देखा है यथा स्तंभ कुट्यादि नाम प्रासादि नाम संगता नाम स्व अवयवैर असंगत परार्थत्व तद्वत जैसे दृष्टांत देते थे जैसे खंबा है उसका जो भी व्यापार होगा अवरोध करना आदि व्यापार जो भी होगा अथवा दीवार का जो व्यापार होगा बाहर का भीतर ना आ सके भीतर का बाहर न जा सके जो भी होगा मकान आदि का जो व्यापार होगा रहना आदि जिसको रहना होगा ये सब व्यापार अपने इनका व्यापार स्व अव संगत संघात है ये स्तंभ भी कई चीज मिलकर के खंभा बनता है मकान भी कई चीज मिलकर बनना है दीवाल आदि भी कई वस्तु से बनना है संघात है स्व अवयव असंगत अपने जिससे जिस अवयव से मकान आदि बने हुए हैं उससे अतिरिक्त व्यक्ति संघात से अतिरिक्त पदार्थ के लिए होता जाता है मकान मकान के लिए नहीं होता मकान मालिक के लिए होता है स्तंभ आदि भी ऐसे किसी अन्य के लिए प्रयोग के लिए काम आता है सकते ऐसी प्रकार यहां भी समझना इनका जो व्यापार है अन्य के लिए जो अन्य है वही आत्मा है इनके व्यापार जिनके लिए व्यापार कर रहे हैं वही आत्मा है ऐसा क्या होगा भगवती सक्षण इसलिए ऐसा क्षण किया ऐसा कहा टीका में कहते हैं यह तो उत्तम वक्तव्य यही कहा जाता होता है क्या बाघादि अभिव्याहृत आदि बाणी आदि के जो शब्द उच्चार आदि क्रिया है तत्त इंद्रियों का अपना मतलब जो व्यापार है इंद्रियों का स्व असंहत परार्थम भवित रहती अनुमान दे रहे हैं जो तो बाघादि अविव्याहृति जो है ना अविव्याहृतादि ये होगा पक्ष अनुमान का पक्ष होगा स्व असमत परार्थम भवित भरती साध्य होगा अपने संघात से अतिरिक्त व्यक्ति के लिए होना चाहिए संघात में नहीं है जो संघात से असंहत जो संघात से अतिरिक्त व्यक्ति के लिए होना चाहिए इनका व्यापार जो भी होगा संघात से अतिरिक्त के लिए होना चाहिए संगतता ये संघात है ये संघात का व्यापार अन्य के लिए होता है कैसे कुट्टी आदि जैसे दीवाल आदि का जो व्यापार होगा वो दीवाल आदि के लिए नहीं होगा उसे अतिरिक्त व्यक्ति के लिए होगा देवदत्ता एक दत्ता मनुष्य के लिए व्यापार होगा ये अनुमान दिया बाघादि अभिव्याहृतम ये पक्ष है स्व असमत पदार्थम अभितमरति साध्य है संगतत्वात हेतु है कुड्यादिवत दृष्टांत है जैसे दीवाल आदि दीवाल के लिए दीवाल नहीं होता अन्य के लिए होता है इसी प्रकार इनका व्यापार जो चल रहा है अन्य के लिए जो इनका व्यापार जिस अन्य के लिए वही आत्मा ऐसा ज्ञान कुट्यादिवत प्रासादिवत अथवा मकान आदि ले लो संघात है वो उसका व्यापार आने के लिए होता है इसी प्रकार बाघ आदि का व्यापार जिसके लिए वो आत्मा है ये सिद्ध हो गया तदवत इति अनंतरम श्रुतिगतम सईक्षत पदम अद्रष्टव्यम तद्वत माने यहां पर दाष्टान्त में बताया जैसे दृष्टांत दिया दिवाल आदि का व्यापार अन्य के लिए होगा इस प्रकार के इंद्रियों का व्यापार जिसके लिए वही आत्मा है ऐसा ज्ञान होगा कहा तद्वत कहा दाष्टान्तिक बताया इसके आगे श्रुति में सईक्षता पद है उसको लाके यहां जोड़ देना चाहते तद्वत इति अनंतरम श्रुतिगतम सईक्षत पदम होगा श्रुति में जो सईक्षता हाँ, वो पद ला करके यहां जोड़ करके अर्थ करना तद्वत सईक्षता ऐसा होगा कहा भाष्य तो स्पष्टतया त्यक्तम भाष्यकार ने फिर प्रयोग क्यों नहीं किया सही सईक्षत पद का प्रयोग क्यों नहीं किया भाष्यकार ने तदवती के आगे जब टीकाकार उसकी अपेक्षा करते हैं भाष्यकार ने क्यों नहीं किया तो कहते भाष्य तो स्पष्टतया स्पष्ट भाष्यकार ने स्पष्ट है इसे परित्याग कर दिया विद्यार्थी सब जानते हैं इस बात को समझते हैं भाष्यकार इसलिए त्याग दिया भाष्यकार प्रयोजन द्वयवशात प्रवेश से कर्तव्यत्व सिद्धे प्रवेश द्वारा विचार से अवसर इति इधानी स ईक्षत पत्र वाक्यम व्याचे का प्रयोजन दो है आत्मा का प्रवेश करने का एक तो इंद्रियों में व्यापार हो पाएगा संघात में व्यापार होगा क्यों चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ में कार्य हो नहीं सकता एक एक प्रयोजन यह है दूसरा उस चेतन का ज्ञान भी होगा सभी को आत्मा का ज्ञान भी होगा इनके व्यापार के द्वारा आत्मा का आत्मा की सिद्धि होगी आत्मा है करके सब मानेंगे ये दो प्रयोजन है एक तो इनके व्यापार सिद्ध होगा ये प्रयोजन दूसरा इनके व्यापार के माध्यम से आत्मा के पहचान होगा ये दो प्रयोजन है प्रयोजन व्यवसाय आत्मा का प्रवेश करने का दो प्रयोजन ये शरीर में प्रयोजन प्रवेश करने का दो प्रयोजन है एक प्रयोजन तो यही हो गया और दूसरा प्रयोजन है दो प्रयोजन के कहा प्रयोजन द्वैवसात प्रवेश से कर्तव्य सिद्धि प्रवेश कर्तव्य है ये सिद्ध हो गया आत्मा का प्रवेश यहाँ होना जरूरी है प्रवेश द्वारा विचार से अवसर और प्रवेश का द्वार का विचार करने चाहते हैं कहां से प्रवेश करो कौन सा दरवाजे से प्रवेश करो प्रवेश द्वारा विचार से अवसर अब अवसर वो है इति ये कर इधान स ईक्षत पतरेण प्रपत्ययी ये हो जाएगा कहां से मैं प्रवेश करूं पतरेण यदि वाक्य स इक्षता कतरेण यदि वाक्यम व्याचस्ते जो स इक्षता कतरेण प्रपत्ययी ये जो वाक्य है उसके व्याख्या करते हैं एवं इच्छित्वा भाषण का इस प्रकार इच्छा करके विचार करके अतः कतरेण प्रपत्य अस्मात् कारण कतरेण प्रपत्य कहां से प्रवेश करूं ऐसा विचार किया ठीक है मैं कहते हैं यत प्रवेश से बाघादि विभाग सिद्धि मत्स्वरूप बोधस्त ये दो प्रयोजन है प्रवेश का एक तो होगा दागादि व्यवहार की सिद्धि होगी दागादि व्यापार कर पाएंगे मेरे प्रवेश होने पर नहीं तो जड़ है स्वतः व्यापार होगा नहीं चेतन में आश्रित रहे बिना इंद्रियों के व्यापार की सिद्धि होगी एक एक तो ये हो जाएगा यथ प्रवेश से बाघादि व्यवहार सिद्धि एक तो बाघादि व्यवहार की सिद्धि होगी और दूसरा होगा मत स्वरूप बोध था मेरा स्वरूप का ज्ञान भी होगा इसी के माध्यम से लोग मुझे पहचानेगा आत्मा को पहचानेंगे इंद्रियों के व्यापार जिसके लिए हो रहा है वो आत्मा है ऐसा ज्ञान होगा दोनों होगा प्रयोजन होगा प्रयोजन प्रयोजन द्वय सिद्ध्यर्थम ये दो प्रयोजन है आत्मा का प्रवेश होने के लिए सिद्धि के लिए कर्तव्यत्म कर्तव्य है तेरा प्रवेश या प्रवेश करना कर्तव्य है अतः इत्यर्थ इसलिए अतः कतरेण प्रबंध या अतः को लगाने के लिए कहा आगे कहते हैं अंतर इति पाठ है कहीं कहीं ऐसा पाठ है एवं ईक्षित्वा अंतर कतरेण प्रबद्धे ऐसा अतः के स्थान पर अंतर पाठ है कहते हैं भीतर ऐसा पाठ है भाष्य में कहें तो अंतर इति पाठ है अतः के स्थान पर यदि अंतर पाठ हो तो क्या होगा शरीरांत शरीर से अंत प्रपत्ति शरीर के भीतर में कैसे प्रवेश करूं किस मार्ग से प्रवेश करूं ऐसा विचार किया ये हो जाएगा कतरेण यदि पदम गृहित कतरेण माने दो स्थान है दो में से एक को निर्धारण करने के लिए दतरथ प्रत्यय लगाया जाता है या तदो दो निर्धारण है दोयोर एक से दतरथ ऐसा सूत्र है व्याकरण दो व्यक्ति के निर्धारण करने के लिए तीन शब्द होते हैं किम या तद इन तीन शब्द से दतरथ प्रत्यय किया जाता है कतरो वैष्णव अनयोर मध्य कतर वैष्णव ये दो में से कौन वैष्णव है ऐसा बोला जाता है कतरा ये दो व्यक्ति हैं सुना था एक सन्यासी एक वैष्णव आ रहे हैं सुना था तो अब ज्ञान नहीं कौन वैष्णव है कौन सन्यासी है तो पूछता है वो अनयर मध्य कतरा वैष्णव ये दोनों में से कौन वैष्णव है ऐसा पूछा जाता है तो कतर शब्द दो व्यक्ति में से एक को निर्धारण करके प्रयोग होगा तो यहां अभी प्रवेश का द्वार दो है इसे सिद्ध होता है दो द्वार है इसलिए कतरेण बोल रहा है एक अर्थ कतरेण इति पदम गृहित जो कतरेण पद मंत्र में है हम्म। कतरेण प्रबद्धे स इक्षता कतरेण प्रबद्ध ऐसा मंत्र में है तो कतरेण इस पद को ग्रहण करके तद व्याख्या तुम मार्ग दर्शेगी उसको व्याख्या करने के भाष्यकार दो मार्ग को दिखाते हैं क्योंकि यहां धतरथ प्रत्यय दिखाना है तो दो मार्ग में लगेगा कौन से दो में से किस में से प्रवेश करना है दतरथ प्रत्यय किया कि सबसे इसलिए भाष्यकार ने कहा प्रपदम च मूर्धा च अश्य संघात प्रवेश मार्ग दो है इस आत्मा के लिए इस संघात में प्रवेश का मार्ग दो है एक तो पहाड़ के अग्रभाग है एक मूर्धा है ये कहा अनयो कतरेण मार्गेण कार्यक्रम संघात लक्षण पूर्व प्रपद्य प्रपद्ययम इन दोनों में से किस मार्ग से इस कार्यक्रम संघात में मैं प्रवेश करूं ऐसा आत्मा ने विचार किया ये कहते हैं अच्छा टीका में कहते हैं इदानीम गृहितम पदम व्याख्या है एक गृहित पद था प्रपदम च मुर्धा च भाष्यकार ने दो पद ले लिया था उसकी व्याख्या करते हैं अनायो करके वो दोनों को लिया प्रपदम शब्द और मुर्धा दोनों को ले लिया या प्रपदम का अर्थ टिप्पणी ने कहा है माने पादाग्र भाग को प्रपद कहते हैं अमर पुरस्कार ने ऐसे वाक्य को प्रयोग किया है इत्यादि प्रपदम पादाग्र प्रपदम इति है पादाग्रह प्रपदम ऐसा अमर पुष्कार ने कहा तो पैर के अग्रभाग से प्रवेश करो अथवा मुर्दा से प्रवेश करो कहां से प्रवेश करो ऐसा विचार किया कहते प्रपद्य अनंतरम स्रोतम स ईक्षत दृष्ट ये प्रपद्य पाठ के बाद में स ईक्षत लाना श्रुति में जो पद है स ईक्षत उसको लाके हमने करना उसने विचार किया ऐसा होगा एक नाम तो प्रपद्यय का अर्थ जो प्रपद्ययम है उसमें तो आत्मनिपद जो हुआ है उसके अभी बताएंगे बाद में एक भाष्य में आएगा प्रपद्ययम कैसे बोला होगा उसके बारे में भाष्य में बताएंगे आगे मंत्र है स एतम एव सीमान विदार्य एतया द्वारा प्राप्त प्रापद्यत सैषा विदृतिर्नाम तदे तन्नांदनम तस् त्रय आवसथ त्रय स्वप्न अयम आवसथो अयम आवसथो अयम आवसथ स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सैषा विवृतिर्नामद्वः तदेतत्नान्दनम् तस्य त्रय प्रय स्वप्न अयम अयम् आवसथो अयम् आवसथो अयम् आवसथः स माने आत्मा वह आत्मा एतम एवं सीमानम विदारी जब विचार किया दो मार्ग हैं कहां से प्रवेश करो तो गुरुदास से प्रवेश करना सोचा सीमा जो बॉर्डर बोलते हैं माता है जब के समाप्त हेतु जो मांग डालती है उसको सीमा कहते हैं उसको दो भाग हो जाता है वहां से तो ये मुर्दा यही है सीमा में स एतम एवं सीमान विदारे इसी सीमा को विदारण करके फाड़ करके द्री उसको फाड़ करके मुर्दा को फाड़ करके एतया द्वारा प्राप्त करे इसी के द्वारा इस मुर्दा के द्वारा ही वो प्राप्त हो प्रवेश कर गया आत्मा में सा ऐसा विद्युत नाम द्वार यही बोर्धा जो है ना यही है विद्युति नाम का द्वार है ये आत्मा इसको फाड़ करके आया है दीर्घ धारण धातु इसलिए विद्युति नाम का द्वार द्वार माने द्वार द्वार शब्द भी है द्वार शब्द हलंत है द्वाह बोला है द्वार हलंत शब्द स्त्रीलिंग में कहता है द्वार द्वार तो होता है नपुंसक लिंग और द्वार जो होता है हलंत जो होगा स्त्रीलिंग में कहता है सही साहब विद्युक्तिर नाम द्वार कहा तदेत नानदनम यही आनंद देने वाला द्वार यही द्वार है बाकी द्वार सारे दुख देने वाले हैं नवद्वार जितने भी होंगे जितने भी सब कष्ट देने वाले हैं यही एक द्वार है आनंद देने वाला मूर्धा हाँ, तदे तत् द्वारम नानदनम यही आनंद देने वाले हैं तस्य त्रय आवश्यकता कहते जो आत्मा जब यहाँ प्रवेश हो गया हो जाता है उसके रहने का स्थिर स्थान है कहते आवसते अस्मृति आवसत आकर के जिसमें बैठता है उसको आवश्यक कहते हैं माने आत्मा यहां जब आता है तो रहने का स्थान उसका तीन है जागृत स्वप्न सुसुप्त में घूमता है कभी जागृत घर में होगा कभी स्वप्न घर में होगा कभी सुसुप्ति घर में होगा एक तीन घर में घूमना है पूरे जीवन इसी में चलना है और कोई गति नहीं इससे ऊपर अवस्था में कोई सुलझे हुए पहुंच जाते हैं सामान यही होगा ये तीनों में घूमते घूमते सभी पाप हो जाएंगे जागृत स्वप्न सूचना ये तीन ही अवस्था त्रय तस्य मन आत्मा त्रय अवस्था ये जो प्रविष्ट आत्मा का इस शरीर में जो प्रविष्ट होता है आत्मा का तीन स्थान है त्रय स्वप्न है तीनों के तीनों स्वप्न है जागृत भी स्वप्न है स्वप्न भी स्वप्न है सुसुप्ति भी स्वप्न है कहा त्रय स्वप्न तीनों स्वप्न ही है क्यों आत्मज्ञान नहीं है तो अन्य वस्तु को अन्य देख रहा है यही तो स्वप्न है स्वप्न में जैसे अन्य को अन्य देखता है यही है स्वप्न भाष्य में अर्थ कर देंगे तीनों स्वप्न तो क्या है तो कहते हैं अयम आवश्यता अयम आवश्यता अयम आवश्यकता ऐसे कहा यही है यही है करके इदम सबसे दिखा रहे हैं जागृत काल में आत्मा दाइने आत्म बैठ करके विषयों का भोग करता है अयम आवश्यकता यह है जागृत काल में आत्मा का रहने स्वप्न काल में कंठ में होता है मन के साथ होता है कंठ में होता है मन की वृत्ति कंठ में होती है उस काल में तो ये अयम आवश्यक है कंठ के कारण सुसुप्ति काल में हृदय में होता है अयम आवश्यक तो हृदय में दिखाया होता है भाष्यकार करते हैं ये तीन स्थान इसके होते हैं जब तो इस शरीर में प्रविष्ट आत्मा का तीन स्थान है ये बताया ठीक में कहते हैं अनंतरम स यदि वाचा इत्यादि वाक्य पूर्व व्याख्यात यदि तत्तरम स एतम सीमानम वाक्यम तद अपेक्षित अनंतर अब स इक्षत है यदि बाचा यदि वाक्यम पूर्व व्याख्यातम इस तो पूर्व मंत्र में व्याख्या हो गया यदि बाचा अप्यावृतम प्राणेन अभिपाणितम कोहम इत्यादि वाक्य पहले व्याख्या हो चुका है वाक्य की तद उत्तरम उसके उत्तर में आगे स एतम एव सीमानम विदार्य हाँ, एतया द्वारा प्राप्त वाक्य है इसकी व्याख्या करना है स एतम एवं सीमान वाक्यम व्याख्या तुम तद अपेक्षित महा इस वाक्य के लिए जो पूर्व वाक्य के साथ में जो अपेक्षित कुछ बाकी है उसको पहले बोलते हैं भाष्य अपेक्षित यही है एवं इक्षित्वा इत्यादि का भाष्य एवं इक्षित्वा इस प्रकार इक्षण करके कहा से प्रवेश करो ये विचार किया दो दरवाजे हैं पैर के अग्रभाग या बुरा तो दो में से कहा से प्रवेश करो ऐसे विचार करके इक्षण करके तो आत्मा ने सोचा न तावत मम भृत्य से प्राण से मम सर्वा सर्वाधाधिकृत से प्रवेश मार्ग में प्रपथाभ्यम अतः प्रपथे तब तक मैं वहां से प्रवेश नहीं करूंगा जो मेरा भृत्य है सेवक है प्राण मम भृत्य मत भृत्य मेरा भृत्य है प्राण मेरा सेवक है मत भृत्य ना दोनों में टिप्पणी कहा मत भृत्य से प्राण से यहाँ तथा उत्तम अत्र आयाम दीपिका में कहा है पूर्वम प्रपदाभ्याम प्रापद्यता इत्यत्र प्राण रूप क्रिया शक्ति उपाधि कश्य पादाग्रह प्रवेश होता है कहते हैं पहले आरण्यक में एक मंत्र आया था कहते हैं पहले अभी जैसे मंत्र आया पहले भी मंत्र आया था आरण्यक में ऐसा प्रपदाभ्याम प्रापद्यता ऐसा आया था पहले वहां पैर के अग्रभाग से इस शरीर में प्रविष्ट हुआ ऐसा आया था आरण्यक भाग में आया था तो उसका अर्थ क्या किया है प्राण रूप क्रिया शक्ति उपाधि कश्य पादाग्रह प्रवेश होता है प्राण क्रिया शक्ति उपाधि वाला जो आत्मा होगा हिरणगर हो उसके यहां प्रवेश बताया था प्राण शक्ति क्रिया प्राण क्रिया शक्ति उपाधि वाला जो आत्मा है उसको पहाड़ के अग्रभाग से प्रविष्ट बताया था माने प्राण जब आया पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट होगा ऐसा कहा था पहले ये कहा तो यहां कहते हैं कि एवं युक्ता न तावत मत भृत्य माने ममा भृत्य मत भृत्य प्रत्युत्तर पदवस्थ सूत्र से मत आदेश हुआ है उत्तर पद परे है इसलिए अस्मत के स्थान में मत आदेश हो गया मत भृत्य मेरा जो भृत्य है सेवक है प्राण से उस प्राण का मम सर्वा सर्वार्थाधिकार कृत माने सबसे बड़ा अधिकारी है प्राण मेरा उसी के द्वारा सबकी नियुक्ति करवाता हूं सब, सब कुछ करने वाला है मेरा काम करने वाला है प्रवेश मार्ग को प्राण के प्रवेश मार्ग से प्रपदाभ्याम अध न प्रपद्ये पैर के अग्रभाग से प्रवेश नहीं करूंगा जहां से सेवक प्रवेश किया है वहां से स्वामी प्रवेश नहीं करता मैं प्रवेश नहीं कर सकता ऐसा सोचा किम तरी फिर कहां से प्रवेश करना है तो पारिशेष से न्याय लग जाए दो ही स्थान है प्रवेश का या तो मूर्धा से प्रवेश करना या पाए पैर के अग्रभाग से तो पैर के अग्रभाग से प्राण प्रविष्ट हो चुका है पहले इसलिए क्या परिशेष परिशेष न्याय के द्वारा अश्य मूर्धानम दिया इस शरीर का अश्य माने इस शरीर का मूर्धा को फाड़ करके भेदन करके प्रपत्यय यहीं से प्रवेश करूं ऐसा सोचा कहते हैं यह प्रपद्यय के स्थान में भाष्यकार ने प्रपद्ययम पड़ा हुआ है क्यों ऐसा पड़ा होगा प्रपत्ययम ऐसा बोला पहले पहले मंत्र में प्रत्यय की जगह प्रपत्ययम बोला अभी भी प्रपत्ययम बोल रहे हैं परस्मय पद में प्रयोग कर रहे हैं धातु आत्मनिपदी है पद्यते आत्मनिपद में प्रयोग होगा तो मंत्र में तो प्रपत्यय लोट लकार है उसके लिंग करते समय में प्रपत्यय होना चाहिए प्रपद्ययम परस्मय पद में प्रयोग कैसे किया भाष्यकार इसके बारे में टिप्पणीकार लिखते हैं प्रपद्ययम इति आत्मनिपद से अनित्यत्व आश्रित होता भाष्यकार ने कहा उस परिभाषा को भाष्यकार जानते हैं अनुदात हित आत्मने पदम अनिमितम ऐसा है अनुदात हित मान करके जो आत्मने पद होता है वो वो नित्य नहीं है अनित्य है अनुदात्यता आत्मने पदम अनित्यम क्योंकि चक्षिंग धातु की जो नकार इतकरण किया वो ज्ञापन देता है चक्षिंग में इकार अनुदात हित है अनुदात हित होते हुए भी उसको पद में ही प्रयोग करना था इसलिए नकार भी लगाया ये भाष्यकार ये परिभाषा को लगाना चाहते हैं कहा आत्मनिपद से अनित्यत्व आश्रित उत्तम आत्मनिपद जो होता है अनुदात मान करके वो अनित्य होता है इसलिए भाष्यकार ने यहाँ प्रयोग कर का प्रयोग कर दिया एक लोके इव कार्य जैसे लोक में देखा है विचार पूर्वक काम करने वाला व्यक्ति जो कार्य होगा विचार पूर्वक काम करने वाला व्यक्ति जैसे विचार करके काम करता है उसी प्रकार सस्रष्टा ईश्वर वो जगत का सृष्टा जो ईश्वर है वह एतम एवं मूर्ध सीमानम ये जो मूर्धा है सीमा है इसी का सीमानम केश विभाग अवसानम केश के विभाग का समाप्ति जहां हो जाती है केश जहां जाके समाप्त होता है विदारी इसको फाड़ करके विदारी हमारे छिद्रम कृपा इसको भेदन करके छिद्र बना करके एतया द्वारा इसी मार्ग के द्वारा मार्गेणा एवं कार्यकाल संघातम प्राप्यता प्रतिवेश कहा इस कार्यकाल संघात में प्रवेश कर गया आत्मा ये कहा ठीक है कहते हैं एवं इक्षित्वा इक्षित्वा मैंने पर्यालोच्य विचार करके कहां से प्रवेश करूं विचार किया इक्षित्वा शब्द का अर्थ पर्यालोच्य विचार करके हाँ। वृत्त हाँ। से प्रवेश मार्गे ना स्वामी ने प्रवेश अनुचिता जहां से सेवक प्रवेश किया हो उस मार्ग से मालिक को प्रवेश करना उचित नहीं ऐसा समझा वृत्य से जहां से प्राण प्रपदाभ्याम प्रापत्यता आया प्राण के लिए तो वृत्त से प्रवेश मार्ग है जो वृत्त का मार्ग है सेवक का मार्ग है उसके द्वारा स्वामी न प्रवेश अनुचित स्वामी का प्रवेश उचित नहीं इति अनैन मार्ग प्रवेश निश्चितवान इसलिए इसी मार्ग से प्रवेश निश्चित किया मुर्दा से मतावन इत्यादि भाषा में कहा <coughs> अच्छा अश्य मुर्दान अश्य माने पिंड से इस पिंड के जो मुर्दा है उसको विदारण करके अश्य पद का अर्थ है पिंड से इस पिंड शरीर है इसका मुर्दा को विधारण करके प्रपत्ययम इतिहानता में निश्चित है विशेष प्रपत्ययम के आगे निश्चित ऐसा यहीं से प्रवेश करूं ऐसा निश्चय करके आगे प्रवेश किया या आएगा एवं अपेक्षितम उक्त स एतम वाक्यम व्याख्या ये तो अपेक्षित पूर्व के साथ में जो अपेक्षित था उसको यहां तक भाषिकार ने संगति लगाई अब स एतम शिवानव आदि वाक्य है मंत्र उसका व्याख्या करते हैं स एतम यदि वाक्य व्याचस्ते का इसकी व्याख्या करते हैं तो क्या व्याख्या करते हैं तो कहा <clears throat> इति लोक इत्यादि जो मंत्र में था इति लोके इव इक्षित कार्य जैसे लोक में देखा है विचार पूर्वक काम करने वाला विचार से काम करता है इसी प्रकार आत्मा भी विचार पूर्वक सस्त्रष्टा ईश्वर एतम भूत सीमानम केश विभाग वसानम विदार्य ये सीमा माने केश का जहां जाके समापन होना विभाग हो जाना ये भाग होता है उसको विदारण करके छिद्र करके एतया द्वारा मार्ग इसी मार्ग के द्वारा कार्यक्रम संघातम प्राप्त किया इत्यादि कहा ठीक है करते हैं एवं इच्छित मूर्धान विदार्य प्रपत्ययम इस प्रकार विचार करके मूर्धा को भेदन करके मैं प्रवेश करूं ऐसा विचार किया निश्चित इति निश्चित ऐसा निश्चय करके एवं संघातम प्राप्त फिर इस शरीर को प्राप्त हो गया इति अंदर ऐसा लगा देना कहा संज्ञा है आगे टीका करें मनु नववई पुरुषे प्राणा कहा है सप्तवई स्थिर संज्ञान बहु अंश ऐसा पुरुष माने ये कार्यक्रम संघात में प्राण नौ है ऐसा है सप्तवय शीर्षण सात तो सिर के ऊपर है शिरसी भवा शीर्षण सिर में है सात प्राण और दो चौ नीचे हैं दो सात छिद्र यहां है दो नासिका के हैं दो कान के हैं दो आंख के हैं वो सात छिद्र यहां है और दो छिद्र नीचे हैं ये एकादश शीघ्र होता है तो ननो नव वही पुरुष प्राण ऐसा कहा है नौ पुरुष में प्राण या शरीर में प्राण नौ है स्त्री त्रिसन्य शीर में होने वाले सात सिरसी बबा त्रिसन्य शीर में होने वाले सात हैं और प्राण और दो अवांच दो है नीचे ये नौ है नवद्वारे पुरी रही गीता में भी कहा है नवद्वारे पुरी रही नैव कुरमन नकार है गीता के पंचम अध्याय में ऐसे कहा नवद्वार बताया इसको इत्यादि द्वार से प्रसिद्ध है इत्यादि में द्वार की प्रसिद्धि है द्वार नवकम प्रसिद्ध है नवद्वार की प्रसिद्धि है आपने दो द्वार या कैसे बोला नवद्वार की प्रसिद्धि है न तो मूर्धनी द्वारांतरम एक मूर्धा अतिरिक्त द्वार तो है नौवीं द्वार है ये दसवा द्वार कहां से आ गया किसी को विदृति द्वार बोल दिया विदारण नामक द्वार है बोल दिया दसवा द्वार कहां से आया न तो मूर्धनी द्वारांतरम मूर्धा में अन्य द्वार तो है नहीं इति आशंक्य प्रत्यक्षतः तयोर्धमायन अमृतत्व में थी श्रुति से कहते हैं देखो मूर्धा द्वार दो प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रुति प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण ये कहते हैं जब विषैले तेल आदि का है सेवन करते हैं तो भीतर में कड़वाहट लगता है कहते एक तरफ छिद्र है द्वार है ऐसा दिखाएंगे हाँ, इसमें तेल आदि लगाएंगे भीतर में उसका झाग आएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है ये दरवाजा है और तेल घुस गया भीतर यहां से पता लगता है और तीसरा श्रुति तो बोलती है तयोर्दमायम अमृतत्व में विश्व नान्या उत्क्रमणे भवन ऐसा कठोपन धर्म जो है मुंडक मत है तो प्रत्यक्षता स्तोर्धमायन आयन अमृतत्वती ये जो गुर्दा वाले द्वार है ना इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी है श्रुति भी है तयोर्धमायन अमृतत्व में अन्य उत्क्रमण भवन इत्यादि श्रुति तस् द्वार से प्रसिद्ध है वो तो जो गुर्दा द्वार है प्रसिद्ध है इसलिए नैवम नवधि द्वार है ऐसा मत कहना नैवम यदि भक्तुम सा इति वाक्यम तथ्य सा ऐसा विकृति द्वा ऐसा बोला ये विदारण नाम के द्वार है ये परमात्मा ने ठाया है इसको इसलिए विकृति नाम के द्वार है ये ऐसा आया शेयम इत्यादि भाष्य में कहा था एक भाष्य में कहते हैं शेयम ही प्रसिद्धा द्वा एक प्रत्यक्ष प्रसिद्धि भी है स्तुति प्रसिद्धि भी है द्वार में प्रसिद्ध है कैसे कहते हैं प्रसिद्धि कैसे प्रत्यक्ष प्रसिद्धि दिखाते हैं मूर्धि तैलादि धारण काले तद रसादि संवेदा एक अर्थ मूर्धा में जब तेल आदि का धारण करके तेल लगाएंगे यहाँ तो भीतर में क्या होगा उसके रस भीतर आ जाता है कड़ुआ कड़ुआ लगेगा तो भीतर ऐसा होता है ऐसा ज्ञान होता है इसे दरवाजा है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और श्रुति तो बोलती है तयोर दवायन अमृतत्व बेटी सतम चय का हृदय से नाट्य तासनम एक बोधान ही का तयोर मायन अमृतत्व देवी विश्व अन्य उत्कर्मण विभाव ऐसे सकते हैं एक सौ एक नाड़ी यहाँ हृदय में मुख्य नाड़ी तो उसमें से एक नाड़ी जो है यहां से कंठ को भेदन करके तालू को भेदन करके मुर्गा की तरफ गई है तो अंतिम अवस्था में उस नाड़ी को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है बाकी अन्य नारी संसार के लिए होते हैं ऐसा आया तो प्रसिद्ध है कहा एक आश्रयम ही प्रसिद्धा द्वार ये द्वार मूर्धा द्वार जो है प्रसिद्ध द्वार है मूर्धि तैलादि धारण काले तेल आदि पदार्थों का धारण करने पर मूर्धा में धारण करने पर तद रसादि संवेदना उसके रस में स्वाद उसका स्वाद जो होगा रस रस में से जो स्वाद उसका जो जैसा रस होगा उस रस का संवेदन होता ज्ञान होता है भीतर ज्ञान होता है सैसा विदृति इसलिए विदृति नाम का द्वार बनाया उसने ने धातु तीन प्रत्येक में विदृति बनाया विदारण द्वार है विदारी तत्व परमात्मा के द्वारा भेदन किया उसको इसलिए विदृति नाम रख दिया विदारी तत्व विदृति नाम प्रसिद्धात्वा उस द्वार का नाम विदृति नाम है प्रसिद्ध द्वार है इतराणी तो बाकी जो नव द्वार जो बताए हैं सप्त शीर्षण दो अंचौ वो तो कैसे हैं श्रोत्रादि द्वारा वो श्रोत्रादि के द्वार है वो परमात्मा का द्वार नहीं हो माने श्रोत्रादि इंद्रियों के बैठने का द्वार है द्वारा आने वृत्त्यादि स्थानीय साधारण मार्ग द्वार वो वृत्त्यादि स्थानीय साधारण मार्ग है इसलिए परमात्मा वहां प्रवेश नहीं करता न समृद्धि नहीं वो समृद्ध आनंद देने वाले नहीं अन्य द्वार न समृद्धि नहीं नानंद हेतु नहीं आनंद के हेतु नहीं है द्वार बाकी द्वार जितने भी हैं इदम तो द्वार ये जो द्वार है मूर्धा जहां से परमात्मा प्रविष्ट हुआ है द्वार परमेश्वर से व केवल से केवल परमेश्वर का ही दरवाजा है बाकी किसी का नहीं और परमेश्वर भाव में पहुंचे हुए जो योगी लोग होते हैं उस द्वार से निकल जाते हैं अंतिम अवस्था इदम तो द्वारम ये जो द्वार है परमेश्वर से व केवल से केवल परमात्मा का ही द्वार है आने के लिए नहीं तदेतन बंधनम ये द्वार आनंद देने वाला क्यों नदी समृद्ध समृद्धि देने वाला द्वार है ब्रह्मलोक आदि प्राप्त करने कराने वाला द्वार है ये नांदन मान नंदनम एवं नांदनम प्रज्ञादिव्य सूत्र है स्वार्थ में अणप्रत्यय करके नंदन को ही नांदन बना दिया नंदन में नांदन विधि दैर्घ्यम छांदस दीर्घ जो बना दिया नंदन को ही नांदन जो बनाया छांदस प्रयोग कर नंदती अनैना द्वारेण दत्वा परस्मिन ब्रह्मणी की नांदन ये नांदन का ल्यूट प्रत्यय जो है ना अधिकरण कारक में कहते हैं नंदती अनैन द्वारे अच्छा परस्मिन ब्रह्मणी परस्मिन ब्रह्मणी नंदती अनैन द्वारे गत्वा परस्मिन ब्रह्मणी नंदती इति नांदन यह ल्यूट प्रत्यय नम क्यों नदी समृद्ध धातु से ल्यूट हुआ है मान यहां कर्तिकर्ण कर्ताधिकरण कर्ताधिक कर्त कर्तिकरण सूत्र है कर्ता और अधिकरण में होता है बोलते हैं कर्णाधिकरण कर्ण या अधिकरण में ल्यूट होता है या करण में कर दिया जिस द्वार से जाकर के परमात्मा में आनंदित होता है उसको कहा नंदन ठीक है कहते हैं प्रत्यक्षता प्रसिद्धम सैसाई की पदाभ्याम दर्शाएगी प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध है श्रुति से भी प्रसिद्ध है द्वार है दशम द्वार है प्रत्यक्ष सिद्धि को दिखाते हैं सहिषा पदाभ्याम सा ऐसा ये दो पद के द्वारा दिखाते हैं सा ऐसा ऐसा होता ना इसी के द्वारा सहिषा सहिषा विदृतिर नाम द्वार इसके द्वारा प्रसिद्ध करते हैं कहा मूर्धे इत्यादि भाष्य में कहा मूर्धे तैलादि धारण काले तदरसादि संवेदना होगा ठीक है कहते हैं मूर्ध में भी होता है मूर्धने भी होता है अल्लोकोण सूत्र विकल्प से लगता है अनंत है अल्लोकोण सूत्र विकल्प से लगा हुआ है मूर्धनी या मूर्धनी दोनों है मूर्धनी क्षीरम लंब माने इसमें लंबे समय तक विषवृक्ष तैलादि धारण काले विषवृक्ष नाम के पेड़ है उसके तेल आदि का धारण काल में लंबे समय तक रखे रहेंगे तेल को जब थोड़ी देर लगाने से थोड़ा तो ज्यादा देर रख देता तिक्ता आदि तदर्श संवेदन दृश्य है इधर में गले में कड़ुआ रस आ जाएगा ऐसा हो जाता है इसका मतलब वहां से वो रस नीचे निस्तरण हुआ है इसे दरवाजा है वो सिद्ध होता है कहा मूर्धनी चीरम विष वृक्ष तैलादि धारण काले लंबे समय तक विष वृक्ष का तेल आदि का धारण करने पर विष वृक्ष माने क्या है तो टिप्पण में कहा विष वृक्ष अर्कादि आग होता ना आग विष वृक्ष कहा उसको अर्कादि तदीय बीज तैल आदि उसके जो बीज होगा उसके तेल निकालेंगे आग के बीज के तेल निकालेंगे तो वो यहां देरी देरी तक लगाए रखेंगे तो ये गले में कड़ुआपन आ जाएगा माने वहां से वो उसका रस भीतर आ जाता है यही है वृक्ष वृक्ष अर्क आदि में एक तो आ गए आदि से और हुए विश्व वृक्ष बोलते हैं विश्व वृक्ष तैल धारण आदि काले तिक्त तिक्तादि रस संवेदन तिक्तादि रस का ज्ञान होता है दृश्य थे साधवा प्रत्यक्षता प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रसिद्ध द्वार है वो मूर्धा द्वार न केवलम द्वार प्रत्यक्षता एवं सिद्धि द्वार षष्टी उस द्वार की प्रत्यक्ष से सिद्धि नहीं द्वार शब्द का षष्टी द्वार षष्टी यही है न केवल द्वारा प्रत्यक्ष प्रसिद्धि उस द्वार के केवल प्रत्यक्ष प्रसिद्धि मात्र नहीं किंतु तस् विद्युति नामना भी प्रसिद्धि विद्रुति नाम आया विदारण किया इसलिए उसको विद्रुति द्वार बोला इसलिए भी वो प्रसिद्ध है श्रुति भी प्रसिद्ध है विद्रुति शब्द देखा विद्रुति इत्यादि शब्द लिखा सैसा विदृतिर विदारित्वा वितरित ताम प्रसिद्धात्मा प्रसिद्धि द्वार है कहा अनेन ईश्वरण स्व प्रवेशार्थम असाधारण तया विदारित्वात इस परमात्मा ने इस द्वार को फाड़ा है अपने प्रवेश के लिए रास्ता निकाला हुआ है अनेर ईश्वर इस ईश्वर ने क्या किया इस परमात्मा ने स्व प्रवेशार्थम अपने प्रवेश करने के लिए स्वयं का प्रवेश के लिए असाधारणतया इधर विशेष रूप से मार्ग बनाया है असाधारण मार्ग नहीं विशेष है असाधारण रूप से विदारित फाड़ा है इसको न वृत्त स्थान ये चक्षुरादि प्रवेश द्वार ही सह इसलिए इस द्वार को उसके साथ नहीं गिनना चाहिए तो वृत्य स्थान ये तो चक्षुरादि प्रवेश द्वार के समान ये नहीं हो सकता द्वार ही सह न नववई पुरुषे प्राणा इत्यादि पूर्वोक्त स्तुति सु इस द्वार का उसके साथ गिनती नहीं होती विशेष है परमात्मा ने सूची किया इसलिए न बबई पुरुषे प्राणा उसके साथ इसकी गिनती नहीं होती है यह अतिरिक्त द्वार है परमात्मा ने अपने लिए विशेष मार्ग बनाया है स्रौत प्रसिद्धम भक्तुम श्रुति से भी प्रसिद्ध है ये द्वार ये नंदन द्वार है यहां से जाने वाले परमात्मा में आनंदित होते हैं यह स्रौत प्रसिद्धि भक्तुम तदेत नांदनम यदि वाक्यम ये तदेत नांदन द्वार बोला द्वार बोला है तो ये वाक्य है तत्र एतदेव नामतरम न अन्यान युक्तम युक्ता यही नामदन है ये मूर्धा रूपी जो द्वार है यही नामदन द्वार है अन्य नहीं न ज्ञानी युक्तम कृत्वा व्याचस इसी व्याख्या करते हैं इतराणी इत्यादि कहा इतराणी तो श्रोत्रादि द्वाराणी इत्यादि स्थानीय साधारण मार्ग द्वार वो साधारण मार्ग है असाधारण मार्ग में विशेष नहीं वो मार्ग हमें मन से क्या होगा न समृद्धि नहीं हो आनंद देने वाले नहीं हो साधारण मार्ग है ठीक है सम्यक वृद्धि आनंदो यश वृद्धि माने आनंद है यहाँ समृद्धि में सम्यक सम्यक है वृद्धि माने आनंद है यशु तानी सम्यक जिनमें हेतु शब्द भाव प्रधान स्वीकृत आनंदम प्रदे हेतुत्व ऐसा हेतु शब्द दिया है वहां हेतुनी कहा हेतुत्वानी ऐसा समझ माने भाव में ये बोला हुआ कहते हेतु का अर्थ हेतुत्व क्योंकि हेतु ने नपुंसक में प्रयोग किया है हेतु शब्द पुलिंग में होता है तो को वहां जोड़ा हुआ मानेंगे तो नपुंसक हो जाएगा इसे हेतु नहीं बनाया है अन्य द्वार उसके हेतु नहीं होते हैं कहा था हेतु ना आनंद हेतु नहीं कहा था आनंद के हेतु नहीं है अन्य द्वार बोला था तो हेतु शब्द है वो पुलिंग वाचक शब्द को यह हेतु ने नपुंसक कैसे प्रयोग कर दिया तो हेतुत्व तो मान करके नपुंसक किया ये बोलना चाहते थे कहा हेतु शब्द हम भाव प्रधान स्वीकृत है भाव प्रधान जैसे दोयो दोयो द्वयो कयो द्विवचन एक वचन है ना तो द्वि का द्वित्व एकत्व ऐसा अर्थ करते हैं भाव प्रधान निर्देश होता है इस प्रकार यहां भी हेतु माने हेतुत्व समझना कहा हेतु शब्द भाव प्रधान स्वीकृत आनंद प्रति हेतुत्व ऐसा आनंद के प्रति हेतु है चिंता इति बहुग्रणा हेतु नीति नपुंसक तुम दृष्टम इसलिए हेतु नी नपुंसक हो गया है मान हेतुत्व मान करके हेतु शब्द को तो प्रत्यय लगा हुआ समझ करके भाव में तो लगा समझ करके हेतु नहीं बनाया नंदती द्वारे द्वारा गत्वा कहा था इसका अनैन तयोर्तमायन अमृतत्व व्यक्ति श्रुतो प्रसिद्धि था इस बात के द्वारा ये दिखाया है जो कठोर परिषद में कहा था तयोर्तमान आयन अमृतत्व व्यक्ति उस द्वार से गया हुआ व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है इसको श्रुति प्रसिद्धि दिखाई ये कहा समय हो गया है नहीं रखते आगे चलते ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में मनसी प्रतिष्ठिता आविराजी महेगी तेजस्व हितं करिष्यामि सत्यं करिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु अवतु वक्तारम्